असाधारण तत् उपलब्ध साधन उच्चत है पुनः श्रुति उस ब्रह्म की अनुभूति के योग्य असाधारण साधनों को कथन करने जा रही है न चक्षुषा गृहते न पिवाचा नान्यदेव स्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्तस ततस्तुतम पश्यत निष्कलम ध्यायमान कहते न चक्षुषा गृहत नाचा विवाचा कदे चक्षु के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है न वाणी से अतः न ज्ञानेन्द्रियों से न कर्मेन्द्रियों से केवल अंत कर्ण के द्वारा नहीं है न अन्य हृदय वही अन्य भी किसी भी इंद्रियों के द्वारा आप ग्रहण नहीं कर सकते यद्यव इंद्रिया तपसा कर्मणा वाह और न तप या न वैदिक श्रोत स्मार्ट कर्मों के द्वारा भी उस आत्मा को अपन वो नहीं कर सकते इनको कैसे ग्रहण होगा फिर ज्ञान प्रसाद विशुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व जब बुद्धि की स्वच्छता हो तब तथा उससे क्या होगा कदे ज्ञान प्रसाद विशुद्ध अंतकरण वाला जब हो जाता है बुद्धि की सत्वता स्वच्छता से अंतकरण भी स्वच्छ हो गया है कि नहीं क्योंकि अंतकरण के अंदर केवल बुद्धि मुख्य है अहंकार मन ये सब तो गण है ये तो बुद्धि को बेवकूफ बना रखे है ना नहीं तो बुद्धि विवेक कर देगी तो फिर क्या कर लेंगे ये अब ये लोग बुद्धि को कुछ काम नहीं करने दे रहे अहंकार और मन ये दोनों मिलकर अपना राज चला रहे हैं अभी विदेशों में सब जगह सब औरतें खूब काम करती हैं उनको पूरा फ्रीडम है और देश तरक्की कर गए और हमारे यहाँ तो लोगों को बिठा दिया तो रसोई घर में ही तुम रहो और बाहर नहीं आना और क्या करेंगे वो घर बैठे बैठे अरे जिसकी योग्यता है क्षमता है सामर्थ्य है उस विश्वास करो ना यदि वो बाहर आ गई तो बर्बाद हो जाएगी तो तुम ठीक हो तो वो खाए को बर्बाद होगी तुम आधा नपुंसक हो तो बाहर निकलेगी क्या घर पे रहते भी तो बिगड़ी भी होती है ये नियंत्रण क्या होगा उसमें व्यर्थ का जो है आदमी उसको दबाए रखता है ये अहंकार है क्या पुलिंग है ना बुद्धि स्त्रीलिंग है वो अहंकार हमेशा बुद्धि को दबाए रखता है और कुछ भी उसको विवेक करके वैराग्य करके स्वरूप की ओर चिंतन करने भी नहीं देता इसलिए बुद्धि एक शुद्ध हो गई तो वो अपने सही रास्ते पे आ जाए फिर अंत कर्म मनोवर सब आ गए इसलिए बुद्धि शुद्धि से अंत कर्म शुद्धि कह दिया तब ध्यान करते ज्ञान प्रसाद में ध्यान प्रसाद ध्यान करता हुआ उस निष्कलम ध्यान माना इसलिए निष्कलम ध्यान करता हुआ वह निष्कार अर्थात निर्वय जो है ब्रह्म आत्मा सब उसका तत्व का साक्षात्कार करता है सकल ज्ञान का साधन अंतकरण है श्री ज्ञान प्रसाद शुद्ध अंतकरण के द्वारा वह कब होगा जब शुद्ध सत्व जब बुद्धि शुद्ध हो जाए जब बुद्धि शुद्ध हो तो अंतकरण शुद्ध होगा जब अंतकरण शुद्ध होगा तो ध्यान होगा ध्यान होने से उस निरवय आत्मा का अनुभव हो जाएगा यस्मात चक्षुषा गृह है खेन चीज अभी क्यों अरूपता क्योंकि वो आत्मा का कोई रूप नहीं है ना भी गृह वाचा वो वाणी के ग्रहण नहीं कर सकते क्यों अनभिधेयता क्योंकि नाम भी नहीं है रूप नहीं नाम नहीं नाम रूपा तो जगत है अर्थात जगत नहीं है अतः उसको आपने चक्षुष वाणी से ग्रहण कर सकते न कथन कर सकते नान्य और अन्य और क्या कहना इतरे इंद्रिय ही इतर इंद्रियों के द्वारा तो बिल्कुल ही नहीं होना है यही तो मुख्य इंद्रिया है जिसके द्वारा सारा काम अधिकतर हो जाता है जो कान से सुन भी लोगे वाणी ना हो तो बोलेगा कैसे वो सुना हुआ को वाणी से तो अभिव्यक्त करते हो इसीलिए सकल व्यवहार का मुख्य कारण यही दो है चक्षु इन दोनों का निषेध करने से ही अन्य समस्त इंद्रिया निरर्थक साबित हो जाते हैं तपसा सर्व प्राप्ति साधन जगत का ब्रह्म लोक पर्यंत सगल पदार्थों का प्राप्ति का साधन होने के बावजूद भी यह आत्मा तपसा न गृहत है इस आत्मा को तप के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते तथा वैदिक नगरी होत्रादि प्रसिद्ध महत्व नगरीय है जो वैदिक अग्निहोत्रादि कर्म है जो प्रसिद्ध महत्व वाला है स्वर्गादि को प्रदान करने वाला है तो वह भी लेकिन वास्तव में इस आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते उसके द्वारा भी किंतु ना तस् ग्रहण साधन फिर उस आत्मा ग्रहण करने का साधन क्या है ज्ञान प्रसाद आत्मबोध समर्थम अपनी स्वभाव स्वप्राण ज्ञानम बाह्य विषय दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम सन्नव बोधयते इसलिए कहा लाभ बोध इसलिए आए भवन वर्ण कारण से बोध नहीं कर पाते कौन करे कैसा है ये ज्ञान प्रसाद है ना बोध समर्पम अपनी यद्यपि ज्ञान के लिए ही समर्थ है हम फिर भी स्वभाव के मारे भगवान ने भी देखा ना सदुरम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान है भी एक कर उसी वो बात को यहाँ दूसरे शब्द में दिया स्वभाव सर्व प्राणी नाम सर्व प्राणियों के अंदर स्वभाव से क्या हो रहा है ज्ञानम वायु विषय रागाद दोष कलुषित उनके पास जो ज्ञान है कैसा है वायु विषय के जो राग आदि दोष है उससे कलुषित है अप्रधन्न है अर्थात अशुद्ध है इसलिए नाव बोधित इसे उनको बोध हो नहीं सकता है नित्यम सन्निहितम अभी आत्मदत्तम मलावरद्धम इव आदर्श नित्य सन्नीत भी नित्य सन्नीहित कातन का कर्यांत के कर्यांत के है नित्य सन्निहित आवी संहितम गुहाया पहले भी बोला था फिर भी क्यों नहीं पकड़ पा रहा है कहते आत तत्व मलावनद्धम इव आदर्श स्वभाव का मेरे में समझ उसको परिवर्तन नहीं हो सकता है उसका नाम स्वभाव ऐसा होता है ना स्वस्मिन भाव स्वभाव स्वस्मिन किंचित भाव बलात्मकम भाव विद्यते स्वभाव और अमल को दूर दृष्टान क्या दिया मलावनद्धम इव आदर्श मल से अवनद्ध दर्पण के समान पीलुलितम इव सलीलम एक और दृष्टान लेते हैं वहां तो ऊपर है ना केवल यहाँ तो पूरा ही घुला हुआ है मिला घुला हुआ है ना ये मामला तादात तो अनात्मा में आत्मा और आत्मा में अनात्मा उल्टा सीधा दोनों चल रहा है यहाँ तो तारी इसलिए कहते हैं यहाँ और दृष्टांत दूसरा लेना पड़ा क्योंकि दर्पण में लेकिन ऊपर ऊपर मल रहा था भीतर तो है नहीं पुनः मिला बोला कि आर पार सब कुछ इधर गए नहीं आर पार जल वाला दृष्टान दो तो जल को ले लो फिर बरसाती जल ले लीजिए कण कण में वहां पर गंदगी दिखती है पूरा मिश्रित है मल तायात भी हो गया शुद्ध जल और मल दोनों तादात्म्य हो गए हैं पूर्ण रूपेण ऐसे दृष्टांत विलुलितम सलिलम आलोड़ित सलिल के सवाल आलोड़ित सलिल जैसा स्थिर भी कर दिया फिर हिला दो तो क्या होगा नीचे का सारा मिट्टी ऊपर आ जाए तद यदा इंद्रिय विषय संसर्ग जनित रागार्य मल कालश्य अपनयनाथ आदर्श सल्लाद प्रसाद स्वच्छ जब इंद्रिय विषय संबंध से चिन्ह जो रागादि मर है उन कालुष मर एवं कालुष से कालुषों को आपने जब दूर कर देंगे तब जैसे आदर्श के ऊपर का मल को दूर किया तो शुद्ध हो जाता है निर्मली को डाल दो तो जल का सारा मल नीचे बैठकर शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार से प्रसादितम स्वच्छम शांतम प्रसन्न हो जाता है अंत कर्ण भी शुद्ध होकर शांत होकर अवस्थित होता है जब ऐसा होता है तदा ज्ञान से प्रसाद तभी माना जाएगा ये अंतकरण शुद्ध हो गया है जहाँ विज्ञान अंतकरण में कर तीन ज्ञान प्रकरण विशुद्ध सत्ता शुद्ध अंतकरण योग्यो ब्रह्म दृष्टम यस्मात ज्ञान प्रसाद के द्वारा विशुद्ध सत्व है विशुद्ध अंतकरण भी है वो खिटकारी हाँ? भी है और वैसे पौधा ही आता है निर्मली एक पौधा है आजकल उसके जगह पर फिटकर इस्तेमाल हम लोग कर दे रहे हैं ये निर्मली एक पौधा है उसको पीस करके रख लेते हैं और उसका पाउडर छेंट दो और सारा फल को भी लेकर नीचे चढ़ जाता है इसे रज कहा गया उसको काट उसके पाउडर इस्तेमाल किया जाता है आधुनिक दुनिया में फिटकरी भी जरूरत नहीं है पोटेशियम परमानेंट आते हैं पैकेट वो डाल दो ज्यादा हो तो और थोड़े में डालना है तो एक्वा टेनारा है छोटी सी गोलियां होती सफेद उसकी भी एक चौथाई डाल दो पांच लीटर पानी में एक चौथाई डाल दीजिए घुल जाएगा आधा घंटा छोड़ दो जो कुछ उसके अंदर सब खत्म बिल्कुल स्वच्छ जल रहेगा ऊपर से कपड़े से छाल लो वो पियो कोई बीमारी नहीं हो हम डेढ़ साल से कर रहे तब थोड़ा शरीर ठीक हो रखा है नहीं तो हमेशा बीमार होते थे हर ठंडी में तो अस्पताल का दर्शन होता था अब क्या ठंडे अच्छे निकले पढ़ाई बढ़िया होते रहा है यहाँ का जल बहुत गड़बड़ है जिसके से लोगों को गैस होता है बीमारियां हो जाती है दुनिया भर का जल का सही शोधन हो जाता तो है कोई दिक्कत नहीं जल का शोधन के तो अनेक मार्ग है अनेक साधन है अंतकरण शोधन का साधन को कोई चिंतन नहीं, नहीं करता है ना उसी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर विशुद्ध अंधकरण योग्यो ब्रह्म दस्तम यस्मात योग्य है उसके विशुद्ध अंधकरण के लिए वो योग्य ब्रह्म है दृष्टम दर्शन करने योग्य हो जाता है यस्मात तथा तस्मात तू उत्तम आत्मान पश्यते इसी कारण से तो वो व्यक्ति उस आत्मा का दर्शन कर लेता है पश्यति मन उपलब्ध है जिसे निष्कलम सर्वावय भेद वर्जित सरल प्रकार का अवय कर तो भेद से रहित है ध्यान सत्य साधनवान उपसंहृत करना सत्य है साधन वाला है उपसंहृत करण वाला है एकाग्र मन ध्यायमान छिंदन एकाग्र मन के द्वारा ध्यान करता व्यक्ति ही उस आत्मा का अनुभव करता है ये निरात्मा चित्सारितव्यो प्राण पंचदास विवेश प्राण चित्तम सर्वोत्तम प्रजाराम यस्मिन विशुद्ध विवत्येश आत्मा ये निरात्मा चित्सारितव्यो कहते हैं कि भाई जिस आत्मा को वह आपने कहा पश्यति अनुभव करता है तो उसका अनुभव में कैसे आता है वो आत्मा किस प्रकार का आत्मा होता है जो अनुभव करता है उसे पूछते हैं कोई भाई तुमने जो अनुभव किया आत्मा आत्मा के बारे में कुछ बताओ वो तो पहले मौन ही रहेगा नम क्या बताया आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते बुद्ध यही करता था जब भी आत्मा की चर्चा हुए तो मौन हो तो लोगों ने किसको आत्मा है नहीं इसलिए बोलते नहीं तो शून्यम आत्मा शून्यम कर दिया तो इसलिए नहीं बोलते इसका वर्णन ही नहीं हो सकता है और शब्दों से वर्णन भी करें तो बड़ा फिर तर्क वितर्क करने लग जाएंगे लोग शब्दों से बोल भी रहे और उसको कहते कि अशब्द रूपम स्पर्शम मर समंध शब्द नहीं है फिर शब्द से बोल कैसे रहे वाणी का विषय नहीं बोलते फिर वाणी से बोल भी रहे हो वह तो व्यागत दोष हो जाता है तो ये कहना पड़ता है हम तो शब्दों से लक्षित कर रहे आत्मा का कथन नहीं कर सकता हूँ आत्मा को शब्दों से मैं लक्षित कर सकता हूँ कैसे लक्षित करोगे वही कथन कर रहे हैं ईश अनुरात्मा ये जो आत्मा है सूक्ष्म है चित सा वेतव्य हो चित से जानने योग्य है इसमें प्राण पंचदास जिसमें प्राण पर भेद से पांच प्रकार के प्राण भी प्रविष्ट है प्राण चित्तम गौतम और इंद्रियों के सहित यहाँ प्राण शब्द इंद्रिया इंद्रियों के सहित यह चित्त भी जिसमें औत प्रोत है प्रजा नाम प्रजा वर्ग के संपूर्ण चित्त उसी में औतप्रोत प्रोत समस्त प्रजाओं का प्रजा नाम प्राण ही चित्तम गौतम समस्त प्रजाओं का इंद्रियों के सहित चित्त जिसमें ओत प्रोत है यम सर्वम ओतम जिस चित्त के शुद्ध होने पर विशुद्ध और उस चित्त का विशुद्ध हो जाने पर एश आत्मा विभवती विभवती यह आत्मा प्रकाशित होने लगता है सब जगह शुद्ध अंतकरण के लिए ही जोर देते हैं अंधकरण को शुद्ध करो सारा काम हो जाएगा शरीर माध्यम घर में साधन पानी भी शुद्ध करना जरूरी है नहीं तो शरीर ही नहीं टिकेगा तो क्या करोगे अंधकरण कैसे शुद्ध करोगे शरीर रहेगा तब ना अंतकरण शुद्ध करोगे शरीर मर जाए तो क्या अंतगण शुद्धि करेंगे कैसे बीमार पड़ा है क्या अंतगण शुद्धि करेंगे इसलिए शरीर को ठीक रखेंगे तो फिर बाकी सकल साधनाओं को अपना सकते हैं साधनाओं को जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं इसलिए शास्त्र के शरीर माध्यम खल धर्म साधना ये कहते हैं तो भाषा यम आत्मा एवं पश्यती जिस आत्मा को इस प्रकार से देखता है कहा था आपने किस प्रकार एश हो अणु सूक्ष्म किस प्रकार अनुभव करता है कि आत्मा क्या है अत्यंत सूक्ष्म है किससे अनुभव करता है चेतसा विशुद्ध ज्ञान केवल वेद विशुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल एकमात्र साधन उसका क्या है विशुद्ध अंतकरण और लवा कुछ नहीं है कहा अनुभव करता है यस्मिन श्री प्राणो वायु पंचदा प्राण पान आदि भेद है सविवेश इस शरीर में यह प्राण जो है रूपी वायु पंचधा प्राण अपान संज्ञा के द्वारा भेद को प्राप्त कर समिवेश समय प्रविष्ट समय प्रकाश प्रविष्ट है तस्वीर शरीर हृदय चेतसा उसी शरीर आवच्छिन्न हृदय हृदय आवच्छिन्न चैतन्य रूपे नहीं आप उस चित्त की तरह ग्रहण कर सकते हो चित्त का स्वरूप भी क्या होना चाहिए जानने के लिए प्राण ही स इंद्रिय ही चित्तम सर्वम करणम प्रजाना ओतम व्याप्तम प्रजाओं का अंत अंतकरण इंद्रियों के सहित संपूर्ण विषयादि सहित अंतकरण जो है उसमें व्याप्त हो जाए जिस प्रकार ये न क्षीरम एवं स्नेह न काष्ठम एवं अग्नि घी के द्वारा समस्त दूध में व्याप्ति है ये अग्नि के द्वारा संपूर्ण काष्ट में जिस प्रकार व्याप्ति है उसी प्रकार बाह्य विषय को पूर्णतया परित्याग करता है अंत कर्ण जब ब्रह्म अभिव्याप्त हो जाता है ब्रह्मा का प्रति बना लेता है तब प्रजा राम अंत कर्णम चेतनावत प्रसिद्धम लोग है जितने भी ये अंतकरण माने जाते हैं प्रजाओं का वो अंतकरण वास्तव में लोग मानते हैं कि चेतन वाला है ये चेतन वाला नहीं है दूसरा आदमी को चेतन वाला होते हुए आदमी को भी एक चेतन वाले के समान व्यवहार नहीं करते तो क्या जड़ है गधा है ऐसा बोलते अकल ही नहीं ये अकल है का मतलब क्या हुआ चेतन वाला है लौकी की भाषा में बेअकल मरे गधा ऐसे जो कहते हैं भले ही देखो जिंदा है वो घूम रहा है फिर रहा है लेकिन उसके बौद्धिक क्षमता का अभाव होने से उसको वैसा व्यवहार कर देते जैसे लोक में भी ये बात प्रसिद्ध है जो अंतकरण होता है वो अवश्य ही चेतन वाला होता है ये स्वयं चित्त है क्लेशादि मल युक्त है कौन सी चित्त में लेकर अनुभव होगा जो क्लेशादि मल से रहित है शुद्ध है शुद्ध में ही विभूति एश उक्त आत्मा उसी में प्रकाशित तो विशेषण स्वेन आत्मना विभवती आत्मा प्रकाशित विशेष रूपेण स्वस्वरूपेण वह भवती मैंने आत्मा प्रकाशित आत्मा को प्रकाशित कर देता है स्वरूप को प्रकाशित कर देता है ठीक है मान लो कोई व्यक्ति इतना अंतर शुद्ध कर लिया और ब्रह्म को अनुभव कर लिया है विद्वान है ज्ञानी है उसकी सेवा करने से बहुत कुछ मिलता है उसकी सेवा भी व्यर्थ नहीं जाता है भले है उसे नहीं पढ़े लिखे चाहे कुछ भी हो यम लम लोकम मनसा समिभाति विशुद्ध सत्य काम आश काम तम तम लोकम जय काम दास कामां भूत काम जो विभिन्न प्रकार के ईश्वर की कामना रखने वाला है वह अवश्य ही आत्मज्ञ की सेवा करे पूजा करे आत्मज्ञ अर्चित का भूति हो पुरुषार्थ जो बुद्धि काम वाला है वो आत्मा की, की केवल अर्चना करे सेवा करे पूजा करे उतने से उसको सब कुछ याद से ब्रह्म लोग तो जो चाहेगा वो उसको मिल जाए पैसा चाह रहा है तो पैसा मिलेगा नहीं लोग कह लो मौज करो मर जाओ कोई फायदा यानी यम यम लोकम बात ही जिस जिस लोग को उनकी वह विशुद्ध करण वाला जो आत्मज्ञ है आत्मानुभूति कर लिया है वह अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो जिस जिस कामनाओं को लेकर लोगों के मन के द्वारा संकल्प कर लेता है तो वह हवा लोगों से खुद को या उस दूसरे को मिल जाता है विशुद्ध सत्व यहाँ करता है जो विशुद्ध सत्व पुरुष है वह जिस जिस लोगों को मन के द्वारा निर्णय करके संकल्प करके ग्रहण कर लेता है तो ताश यत कामान और जिन जिन कामनाओं को भी वह लौकिकी पारलौकिकी उन सकल कामराओं को तम तम लोकम ताश कामास जयते उन लोगों को और उन कामनाओं को वो अवश्य ही वह जीत लेता है तस्मात इसी कारण से कहा गया वो आत्मज्ञ की अवश्य ही भूति की कामना रखने वाले पुरुष अर्चना करे पूजा करे सेवा करे और जब ज्ञानी हो तो अपने लिए तो कुछ चाहेगा ही नहीं शुद्ध अंतकरण वाले के अंदर ही हो जाए जिसके अंदर मोह ममता आने कुछ नहीं वैराग्य है अलमस्त आदमी है तो उसी से हो जाता है पहले नागा फागा सब दुनिया और सिद्ध हुए कहा पढ़े लिखे होते थे कुछ पढ़े लिखे है नहीं हमारे धूरी में बैठे हुए हैं आप रामस से गांजा पी रहे थे नहीं पी रहे थे कुछ कर रहा है नहीं कर रहा पढ़ा कोई लेन देन नहीं किसी से न ममता कुछ जो आ जाए महादेव आ जाओ चलो घोटो बोलता है घोटो उसके बाद ये ही रहता है घोटो छको मार छको बोलेगा वो कोई और रिसोर्स है क्या ज्ञान तो है नहीं कोई सत्संग तो करना है नहीं अरे यहाँ पे फूंकने वाला चलो तुम मिलो बोलता है बस फूंको उन लोगों की इतनी सिद्धियां होते थे जो कैसे हो जाए पांच को भी उन्हें संतान प्रदान कर दिया क्या संकल्प आज भी लोग कहते हैं आते जाते सेवा करते हैं अरे हम तो आ गए आपका आशीर्वाद लग गया अरे हमारा संत दिए नहीं थे आशीर्वाद तो लगा कैसे कहा हमने तो आश्रय दिया ही तुमको हम तो गाली दिया बल्कि अरे दुष्ट कहाँ से आगे फालतू का दिमाग खराब करता है हम उसे तुमको लग गया काम तो फिर चाहता है हमने कहा हम न तो विशुद्ध अंतकरण वाले हैं न तपस्वी हैं हम तो डेबिट बीमारी वाले हम तुमको क्या आशीर्वाद देंगे लोग कहते आप हाँ कर दो महाराज बस हो जाता है क्या हो जाता है हो जाता है लोग हम यही समझते हैं उनकी अपनी श्रद्धा है भगवान उसका लुफाल दे दिया हम लोग का कुछ गत्र के प्रति श्रद्धा है वो श्रद्धा का लाभ है संत के प्रति श्रद्धा है श्रद्धा का लाभ मिल रहा है और उसमें लेकिन आदमी जो अभिमान लो देखो मेरे आशीर्वाद से संतान हो गया मेरा आशीर्वाद ये हो गया मेरा आशीर्वाद वो हो गया अहंकार जा करेगा उसका सारा टायर भ्रष्ट हो जाएगा और साधक की साधना ही खत्म हो जाएगी तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि देखो साधक की अवश्य ऐश्वर्य कामना वाले पुरुष पूजा करें एवं उक्त लक्षण सर्वात्मा आत्मतर प्रतिबंधा जो लक्षण वाले सर्वात्मा को आत्मरूपेण ही अनुभव कर लिया है तस सर्वात्मता वह व्यक्ति सर्वात्मा होने के कारण से ही सर्वावाप्ति लक्षण फलम संपूर्ण जो है यह लोग से परलोक क्या सब कुछ को प्राप्त करने के सामर्थ्य उसके रह जाता है यह अवाप्ति सर्व प्राप्ति रूपा फल को कथन कर रहे हैं यम यम लोकम पितराज लक्षण मनसा से वाद्य संकल्पयती मह्यम अन्यस्मय भवेदी मह्यम अन्यस्मय वा भवेद ऐसे यदि विशुद्ध सत्व क्षीण क्लेश आत्मित क्षीण क्लेश और आत्मता निर्मल अंत कर्ण वाला जो व्यक्ति है वह यदि कामयते याश कामान प्रार्थयते भोगान यदि विभिन्न भोगों की प्रार्थना करेगा तो भी तम तुम लोकम जयते उन लोगों को जीत लेता है प्राप्त कर लेता प्राप्त होती काश कामान संकल्पितान भोगान उन संकल्पित विभिन्न प्रकार के भोगों को वो प्राप्त कर लेता है तस्मात विदुषा सत्य संकल्प क्योंकि जो विद्वान जो होता है वो सत्संकल्प होता है आत्मज्ञम आत्मज्ञान विशुद्ध करण महात्मा ने अपने आप ज्ञान के स्वरूप ज्ञान के द्वारा विशुद्ध करण वाला है उसको अरचित पूजित पाद प्रक्षारण शुश्रूषा नमस्कार आदि भी पाद प्रक्षारण शुश्रूषा नमस्कार आदियों के द्वारा किसको ऐसे करना चाहिए कौन है अरे भूति काम हो विभूति मिच्छ हो भिन्न प्रकार के ईश्वर को चाहने वाले लोग अवश्य से करेंगे तो वह आत्मा है विशुद्ध अंतकरण वाला है उसके अंदर अपने लिए तो कोई काम उगती नहीं है जगती नहीं है वो आप जाकर रोएंगे धोएंगे हाँ भाई चलो बहुत दुखी है लग रहा है बेचारा चलो हे भगवान इसकी जो उद्धार कर दो कृपा कर दो ऐसे तो भगवान को कह देता है तो भगवान पर लग जाता क्या करेगा साधु का आदेश हो गया विशुद्ध अंतकरण वाले का आदेश हो गया एक तरह से वो भले कहता है भगवान कृपा करना इस पे बड़ा विनय भाव से निवेदन कर रहा है भगवान से लेकिन भगवान अब क्या करेगा फंस गया वो लग जाता है उस भगत का कल्याण करने लग जाता क्योंकि वो महात्मा को अपने कुछ नहीं चाहिए और दूसरा को देख करके उस दुख को देख कर दया जाती करुणा आ जाती उसके अंदर भगवान को कह देता है क्योंकि उसके पास एक ही चपरासी होता है सिद्ध महात्मा के पास एक ही चपरासी है वही मैनेजर है समझो फैक्ट्री का वही चपरासी है वही सेल्समैन भी है वही सब कुछ रॉ मेटेरियल लाने वाला भी वही भगवान उसके भगवान को कह देता है और भगवान कोई फैक्ट्री चला देते हैं सारा काम हो जाता है इसलिए लोभी लालची साधुओं की बात नहीं कर शुद्ध अंत करण वाला संत की बात कर रहे हैं जो आत्मज्ञान को लेकर के जिसका अंत करण शुद्ध उसकी बात कर रहे हैं अपने आप उसके पास ऐश्वर्य पहुंच जाता है सिद्धि सिद्धि सब कुछ उसके पास भले वो अपने प्रयोग करे ना करे कहीं कहानी नहीं आता कि हनुमान जी ने अपने लिए कोई सिद्धि प्रयोग की बोलते ही राष्ट्र सिद्धि नवनिधि दाता ऐसे दाता का तो अपने लिए कभी लिया बंदर तो हमें लंगोटी भी जरूरत नहीं थी तो ठहरे लंगोटी पहनता क्यों कभी बंदर वो तो आजकल हम लोग पहना देते हैं हनुमान जी की मूर्ति बनाकर लंगोटी पहना देते हैं नहीं तो उनके लंगोटी की भी जरूरत नहीं थी पेड़ों में कुछ भान करने वाले पेड़ के फल खाने वाले वो क्या है कोई चीज वो अपने कभी तो कोई सिद्धि का प्रयोग ही नहीं किया जहाँ भी प्रयोग किया और राम काज के लिए प्रयोग किया जहाँ कहीं भी आता है रावण के वहां लंका जनने को प्रसंग आया जहाँ ने सिद्धियों को प्रयोग किया है लेकिन राम के काम के लिए प्रयोग किया पहले नहीं किया कि संत का स्वभाव होता है वो कभी अपने लिए कोई संकल्प नहीं करते हैं अपने लिए कोई रीति सिद्धि का प्रयोग नहीं होता है भी नहीं मालूम नहीं होता रीति सिद्धि है भी कोई सब कुछ रहते उनके पता ही नहीं उनके पास है वो क्योंकि उनके अंदर कोई कामना नहीं है ना ये कामना हो उस कामना की पूर्ति जैसे प्रयोग करेगा तो मालूम हो जा रही सिद्धि थी तभी तो मेरा कामना हुआ नहीं खंड से पूरा हो गया इसका मतलब जरूर सिद्धियां हैं फिर उसके प्रयोग ज्यादा करने लग जाता है तो फंस जाता है इसलिए कामना नहीं करने वाला वास्तव विशुद्ध अंतकरण वाला है और ऐसे विशुद्ध अंतकरण वाले भी मालूम भी नहीं होता है उसके पास सकल सिद्धियां है है सारी चीज इसलिए जब भी कुछ बात होती है भगवान से कहता है हे भगवान तुम कर करते बढ़िया चपरासी कहता तो बढ़िया चपरासी मिल गया लोगों को महात्माओं के पास कोई नहीं मिला कुछ को करे थे वो बेचार लगा रहा था काम करते रहा इसलिए विशुद्ध अंत वाले की सेवा करने से अवश्य उसको विभिन्न प्रकार के धन दौलत तो यहाँ यह लोग परलोक सब कुछ मिल जाएगा कोई संशय नहीं है सवेदित परम ब्रह्म धाम यम निहित भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम हे ही कामास ते शुक्रमे तदति वर्तन धीरा तो पूजा के योग्य है क्यों तो वो तो आत्मज्ञान कौन से आत्मा गया है ये स कि ये वो जो आत्मज्ञ पुरुष है परम ब्रह्म वेद परम ब्रह्म वेद यत्र विश्वम निहितम भाद शुक्रम धाम भी है वह आत्मज्ञानी उस पर ब्रह्म को जाता है जानता है जो संपूर्ण अधिदेव आदिदेव का भौतिक आदि जगत का आश्रय था जिसमें सब निहित है धाम जिसमें समस्त विश्व नीत होकर नीत हुआ ऐसा आश्रय विशेष है जो विशुद्ध रूपेण भाषित होता है ये यकामा पुरुषम उपासक है इसे जैसे ही ये आत्मदर्शी पुरुष की जो निष्काम भाव से उपासना करते हैं वे धीर पुरुष भी अंत में शुक्र का अतिक्रम करेंगे पहले कह दिया ना जो भूति काम होकर के आत्मज्ञ की सेवा और निष्काम भाव से भी आत्मज्ञ की सेवा करोगे तो क्या होगा हमें कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए फिर हम एक ब्रह्म ज्ञान की सेवा करना चाहते हैं कोई कामना हमारे अंदर नहीं है आत्मानुभूति हुई भी नहीं तभी तो सेवा के बारे में जाएगा वो सेवा जब करेगा तो उससे भी उसकी मुक्ति हो जाती है तो ब्रह्म ज्ञानी का शुद्ध अंतकरण वाले जब सेवा कर तो भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है ब्रह्म स्वरूप कोई पाप वह दोबारा शुक्र को प्राप्त नहीं करता शुक्र मैं वीर वीर भाव को प्राप्त नहीं करता अर्थात उसका प्रयोजन नहीं होता पंचाग्नि विद्या आपने पहले एक बार सुना था इसी मुंडक में भी संक्षेप में आया था है कि नहीं यहाँ स्वर्ग यहाँ स्वर्ग से जब बादल में बादल से अनुमान से पुरुष पुरुष स्त्री में गया है ना अब जब वीर में सवार नहीं हो तो स्त्री में जाएगा वहां से वीरियाभिमानी होएगा तब पुनर्जन्म होगा और ऐसे वीरियाभिमान कभी होना नहीं पड़ेगा अरे ये तद शुकम ये जो शुक्र है ना उसको तेज ही रहा वे धीर लोग अवश्य ही अतिवर्तन दी कौन ये अकामा समता पुरुष उपास जो अकाम वाले होकर के वह आत्मज्ञानी पुरुष की उपासना करते सेवा पूजा पाठ करते हैं अर्थात वे भी अंत में मुक्त हो जाते हैं सेवा करते करते करते ही मुक्त हो जाते हैं तथा पूजारमेव असौ भाष्यकार कहते हैं पुजार है ही ये ब्रह्म ज्ञानी ही मन अस्मात जिसलिए कि सवेद जाना थी वो जानता है क्या जानता है इति यथोक्त लक्षण ब्रह्म परम उत्कृष्ट यह जो पूर्वोक्त लक्षण वाला ब्रह्म है जो अत्यंत उत्कृष्ट है वह धाम है सर्व कामान आश्रय सकल कामनाओं का आश्रय है आस्पदम यस्मिन ब्रह्मणी धामनी जिस ब्रह्म रूपी धाम में ये क्या हो रहा है इदम सर्वम विश्व समस्तम जगत निहितम अर्पितम जगत जो है निहित अर्पित है यह भाव शुभ्रम शुद्ध जो अपने ही प्रकाश से विशुद्ध होकर भाषित होता है तमपि एवं आत्मज्ञम पुरुषम तारस ब्रह्म ज्ञान वाला वह पुरुष भ्रमित भी ब्रह्म ही होने के नाते उस भ्रमित ब्रह्म रूपा उस पुरुष के लिए ये ही अकामा विभूति तृष्णा वर्जिता पूर्व मंत्रोक्त विभूति की कृष्णा से भी रहित हो चुके हैं जो मुक्ष संत उपासक मोक्ष होकर जो उपासना करते हैं परम इव सेवंत मानव शुद्ध ब्रह्म की वो सेवा करते हैं युवा शुद्ध ब्रह्म तो सागर है नहीं तो शुद्ध ब्रह्म को जानने वाला प्रारंभ कर्म से जो शरीर के अंदर विद्यमान परिचन्न रूप में विद्यमान दिखाई दे रहा है शरीर अवचन चेतन रूप में जो भाषित हो रहा है हमें वह जीवन मुक्त भी ब्रह्म ही है इसलिए साक्षात मानो और निर्गुण निराकार गुरु के रूप में जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी के रूप में श्रुत निष्ठ के रूप में सामने में सगुण साकार रूप में विद्यमान है इसलिए वास्तव सगुण साकार का पूजा करते हुए भी वो निर्गुण निराकार की सेवा कर रहा है निर्गुण निराकार की पूजा कर इसलिए कहते परम इव सेवंत ते शुक्रम ड्रिबीजम इधर वे लोग शुक्र मने ड्रिबीजम ड्रिबीज में मनुष्य जन्म प्राप्ति कारणीभूता वीर ये प्रसिद्धम जो इस दुनिया में प्रसिद्ध है क्या शरीर उपादान कारण जो शरीर के उपादान कारण है हम लोग के शरीर की उपलब्धि का कारण है वह कारण को अतिवर्तन दी अधिगछन के धीरा धीमंता माने न पुनर्योम पे योनिम प्रसर बनती न पुनः योनिम प्रसर बनती पुनः योनि में प्रवेश नहीं करते पुरुष में रह जाते जैसे हम लोगों के अंदर कोई आया है वीर तो बनी रहा हम लोगों के अंदर भी है ना हम ही लोगों के अंदर रह गया कहा गया वो जाएगा ही नहीं ना वो जाएगा है नहीं जब तक जो है महात्मा बिगड़ेगा नहीं प्रसाद नहीं बांटेगा तो क्या दिक्कत तब तो वीर बना हुआ जो यहाँ रहेगा वो धीर पुरुष ब्रह्म ज्ञान सुनते रहते हैं आप ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं इसमें जितने वीर है उस वीर में वीर का अभिमान करके बैठा हुआ जीव जो होगा वह भी आपका ब्रह्म चिंतन से लाभान्वित हो रहा है बिना समझो निरर्थक जा रहा है निरर्थक नहीं गया आप अपने कल्याण के साथ साथ अनेकों जीवों को उद्धार करते हैं श्रवण कर रहे हैं भले आपको लाभ हो या ना हो पता नहीं कोई श्रोत्र परमेश ब्रह्म पिशाच आप पर सवार होकर के ब्रह्म ज्ञान सुनता होगा हो सकता है में अन्य आएगा देखिए चांदे वगैरह में हम वहां मद्रास गए थे एक औरत थी हजूर ब्रह्म पिशाच बैठा हुआ था उसने मेरे से प्रश्न पूछा उसका मैं जवाब नहीं दे पाए गुरुदेव आप बताइए इसका मतलब क्या ऐसा है नहीं कथा मद्रेश बता हाँ तो कहते मद्रेश मद्रेश मतलब मद्रास चेन्नई गए थे एक ऋषि वहां पर भूत सवार देवी मिल गई अब उसने वेदांत पूछा जवाब नहीं दे पाया बेचारा ऋषि फिर दौड़े आया वापस गुरु जी के पास गुरु से पूछा फिर गुरु जी ने उसको सारा वेदांत समझाया उसका प्रश्न उठा और थोड़ी बड़ी लगी थी ब्रह्म विशास था जिसके ऊपर जो बोल रहा था इसलिए क्या पता हमारे शरीर के ऊपर कोई ब्रह्म पिशाच बैठ के पढ़ा रहा हो हृदय क्या क्यों अभिमान करेंगे फालतू इसीलिए शास्त्रकार ने इसलिए ऐसा बातें है कि अभिमान मत करो कि मैं विद्वान हूँ कह दो ना ब्रह्म पिशाच बोल रहा है तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, है बिगड़ा क्या ब्रह्म पिशाच श्रद्धा करो ज्ञान तो मिल ही रहा अब वैसे भी सन्यासी हो गया अपना पिंड काम कर दे ब्रह्म पिशाच तो हो ही गया नहीं नहीं जावन कर दिए सारा पिंडदान कर दिया अपना शरीर का भी पिंडदान कर दिया इंद्रिया मान सबको जला दिया सब जला करके सन्यासी हो गया तो ब्रह्म प्रसाद तो ही गया है ब्राह्मण जो भूत बन जाए उसका नाम तो ब्रह्म प्रसाद है ना ब्राह्मण तो थे और सब पंडा दे तो दिया है तो ब्रह्म प्रसाद तो हो ही गए तो ब्रह्म प्रसाद तो है ही और तो संशय क्या बुरा क्यों मानना है अरे स्थूल शरीर में तो घुमरा क्या दिक्कत है हाँ आपको शरीर दिख रहा है भाई और शरीर के साची घूम रहे वास्तव में वो तो है नहीं तो मर गया जो शरीर वाला था वो जब खत्म हो गया अब जो दिख रहा है वो शरीर आपके लिए दिखाई दे रहा है अब इसमें जो बोल रहा है जो बैठ गया तो ब्रह्म साक्षी बोल रहा है तो बुरा क्यों मानते हैं लोग पता नहीं लोग को ऐसा बोला ब्रह्म साहब से नाराज हो जाएंगे इसे महात्मा को कहो ये आपका शरीर नहीं है तो हम लोगों का शरीर दिख रहा है और ये शरीर में आपका आप ब्रह्म प्रसाद आप बोल रहे हैं तो नाराज हो जाएंगे मान लेकिन हम लोग ऐसे हम लोग ऐसे नहीं हम तो खुश हो जाएंगे अरे भाई इतना तो कम समझदार आ गया इसके अंदर अच्छी बात है समझदारी आ गई तो शुक्रम न कदे न साहब न पुनः क्वचित रतिम करो थी श्रुता है कि श्रुति का है जो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी होगा ना वो कई रति भाव को प्राप्त नहीं करेगा तो कैसे पुनर्जन्म होगा उस आदमी का न पुनः क्वचित रतिम करो थी श्रुता है अतः तम भूजे दिव्याया इसलिए ऐसे आत्मज्ञानी का पूजा जरूर करना चाहिए और मुमुक्षु के लिए काम त्याग बता दिया सबसे प्रधान साधन है कामना का त्याग उसके बिना अंतगण शुद्ध हो ही नहीं सकता है ना अंतगण शुद्धि मुख्य है ना वो अंतगण शुद्धि कैसे होगी बिना कामना को त्यागे जहाँ एक भी छोटी सी की भी कामना है उस कामना के चक्कर में राग करना चालू कर देंगे जो आपकी कामना को पूरा कर दे उसे आइए हाँ, सेठ जी चाय पीजिए जो ये कामना पूरा नहीं करे रहे बेकार आदमी है सब के छपन खपत करते रहते पानी भी नहीं पूछोगे उसको क्यों आपकी कामना को पूरा नहीं कर रहा ये जो चीज कामना का कारण फिर आवेश हो जाते हैं कामना ही ना करो किसी से कोई चीज की तो सब आपको फिर क्या हो जाएगा सियाराम में सब जगह जानी करो ब्रह्मा में जोर जोरी पानी खाए की सब सियाराम में हो जाएंगे जब किसी कामना ही नहीं रह गया जो भी आ जाए आपके लिए बड़ा खुशी होता है अरे आगे महात्मा आगे तो ठीक है रिश्ते आए तो भी आ अच्छी बात है भगवान है अनंत में तो भगवान ही आ रहे जब मेरी कोई कामना ही नहीं हम भेड़ कहा करेंगे ये महात्मा है ये सेठ है ये गरीब सेठ है ये अमीर सेठ है नहीं ये बिल्कुल ही गरीब है ये कौड़ी देने वाला नहीं ये देने वाला है ये भेदभाव कहा से आएगा ये भेदभाव कामना के कारण ये कामना न हो तो भेदभाव नहीं कहीं यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं महाराज हम तो सोच रहे थे हमने सुना आपके बारे में बहुत कुछ हम सोचे शायद वहाँ जाने को मौका नहीं मिलेगा आपके पास बैठने को नहीं मिलेगा धर्मराज में होंगे दो चार चमचे तो छोड़ते नहीं होंगे कहेंगे नहीं गुरु जी ध्यान में ही बड़े सो रहे हो टीवी देख रहे हो कहीं आज एक तो खुला दरपा जब आए एक घंटा दो घंटा बैठ जाए कोई मतलब नहीं आप मस्त है आप भी मस्त भी मस्त बड़ा आश्चर्य होता है हाँ, क्या कहूँ उधर कहते भाई देखो बात ये है उनकी दरवाजा सेठों के लिए खुलती है कोई टाइम जरूरत नहीं पड़ता है नीचे से फोन से बोल देता है महाराज जी अमुक सेठ आया अच्छा ठीक दरवाजा खुल जाएगा तुरंत बाकी रोज लो चार बजे खुलेगा बेचारे लाइन में खड़े हैं चार बजे जब आएगा तब खुलेगा तब दर्शन होगा व्यापार बेकार का तो कहते हैं अतः एकदम पूजे अभिप्राय हाँ तो कहते कि भाई उसकी पूजा करी चाहे अभिप्राय है तो मुमुक्ष के लिए इसलिए काम त्याग मुख्य साधन बताया कामना का त्याग हो गए तो भेद बुद्धि खत्म हो जाएगी भेद बुद्धि खत्म हो जाएगी जो है सर्वमात्मा भाव स्वतः हो जाएगा जो सर्वमात्मा भाव में आ जाएगी तो हम ब्रह्मास्मन में देर नहीं लगता है कामान योग इसलिए कामान्य कामयते मन्यमान स काम भीर जायते तत्र तत्र पर्याप्त काम से कृतात्मस्तु यही सर्वे प्रविलीयंति कामा उसकी सारी कामना यही लीन हो जाएंगे जिस व्यक्ति पर्याप्त काम वाला तृप्त है अपने स्वरूप में आत्म क्रीडे राम है तो पहले वर्णन किया है वह आप्त काम है आप्त काम है उसकी सारी कामनाएं लीन हो जाती है दृश्य सामने आता है लहर उठता है लहर चला जाता है उसके साथ का कोई संबंध नहीं रहता है व्यवहार बने बोल सकता है वाह कितना अच्छा है अरे भाई दुर्गंध आ रहा है लेकिन न तो उसको दुर्गंध से कोई आस्था वास्ता है ना सुगंध से कोई आस्था होता तो नहीं कहेगा वो दुर्गंध को सुगंध कहा ब्रह्म ज्ञानी की बात झूठ बोल रहा है दुर्गंध को सुगंध कहे ब्रह्म ज्ञानी है क्या तो दुर्गंध को दुर्गंध ही कहेगा ये मत समझो ब्रह्म ज्ञान दुर्गंध सुगंध हो जाएगा उसके लिए नहीं ये कभी ईश्वरीय सृष्टि का विरुद्ध में चलना ही नहीं जानता तो दुर्गंध को सुगंध कैसे बना लेगा वो इसमें दुर्गंध को दुर्गंध ही कहेगा लेकिन दुर्गंध से प्रति आपके जो द्वेष है वो उसके अंदर नहीं ये अंतर है इसे कहते कामान यह काम है तो मन्यमान जो बस दुष्टादिष्ट विषयों के संबंधी गुरुओं का चिंतन करता हुआ विभिन्न प्रकार की कामनाओं को करता है वह व्यक्ति अपने ही कामनाओं के कारण से उनकी प्राप्ति के लिए जगह जगह विभिन्न योनियों को प्राप्त कर बारम्बार विभिन्न योनियों में जन्म लेते रहता है पर्याप्त काम सुकृदात्मनस्तो इसे लगता है इसलिए ही सारा सृष्टि चलती रहती है भगवान की ऐसी व्यवस्था है औरत को बना दिया ऐसे कि उसको बच्चा नहीं होता तो वो बच्चे के चक्कर में कितने लालयत रहती होगी और जितनी बच्चों की कलम बनाकर इतनी बच्चे अगला जन्म कैसे इकट्ठा हो जाएगा इधर उसको सूर्य बना देता हो तो इकट्ठा कर दे अब दस बीस इकट्ठे हर बार नहीं तो जैसी काम ना वैसे जोनी तो मिलेगा और क्या और जब पति के चक्कर परेशान थी जैसे शिव जी आए पांच बार पति पति जय पति जय पति जय अच्छा ठीक है अगले जन्म तेरे को पांच पति हो जाएंगे बेचारी द्रौपदी का पांच पति होगा समान ही ये अंदर जो होता है धगधगाट होता है आपके कामराओं की वो जब भी अवसर मिलता है तो वो एक ही जो चार बार बोलेगा जैसे होता है ना आप भी सेवक लोग रहते हैं किसको कह दिया आप नहीं लाओ हाँ मारा अरे नमला बोला ना नमला नमला दो गर्दी मर बोते नमला नमला हो ही जाता है क्या कर अंदर से कामना ऐसी है ना तो उसी तरह से यहाँ भी है जैसी जैसी कामनाओं को मान रहा विषयों को मान के चलता है उन्हीं कामनाओं के मुताबिक उसको भिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहना पड़ेगा और इसके ठीक विपरीत पर्याप्त काम से कृतात्म तू तू तू को पहले लो किंतु जब परमार्थ तुकी विज्ञानी होने के कारण जब पूर्ण काम है कृतकृत्य पुरुष है उसकी सभी कामना इस लोक में लीन हो जाती है अतः उसके प्राण में ही लीन हो जाती है अन्यत्र कहीं वो गमनागमन को प्राप्त नहीं होता मुमुक्ष कामत्याग एवं प्रधानम साधन इत दर्शयते मुमुक्ष के प्रति कामत्याग ही प्रधान कामानी काम है कौन सी कामना उनको दृष्ट अदृष्ट और इष्ट विषय का विभिन्न प्रकार की कामनाएं कर रहा है दृष्ट इष्ट विषय और अदृष्ट इष्ट विषय सुखों की कामना करता है दृष्ट अनिष्ट विषय या अदृष्ट अनिष्ट विषय की उनकी कामना कोई नहीं करता इसलिए दृष्टादृष्ट विषय विषयान योग काम ये मन्यमान मैंने तदगुण तो चिंतान उसके गुणों का चिंतन करता हुआ जो प्रार्थयते प्रार्थना करता है सही काम मेरेगा काम धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतु और काम ने धर्म धर्म आदि प्रवृत्ति कारणीभूता उन कामनाओं के द्वारा विशेषा रूप विशेषा स्वरूप जो थे उनसे सहज जायद उनके साथ साथ वो तत्र तत्र जायद यत्र विषय विषय प्राप्ति निमित्त काम कर्मसु पुरुषम नियोजयती तरह देश विशेष हो तैव कामेष्टि जयते जिन जिन विषय प्राप्ति निमित्त कामनाओं को लेकर के आपने कर्मों में यह पुरुष नियुक्त हुआ कर था तत्र तत्र देशु देशु उन विषयों को भोग करने योग्य ही तैरेव काम उन्हीं कामनाओं से विष्टित होकर के वह उत्पन्न हुआ करता है और जो विपरीत है उसकी चर्चा लो मान्य काम यते मन स काम भीर जायते तत्र पर्याप्त काम बनस्तो सर्वे प्रविलियंति गावा इसका भाष्य चल रहा था देश देश विशेष तैरव कामर विष्टित हो जाए थे अपने अपने विषयों में जो कामनाएं थी उन्हीं कामनाओं से घिरावा होकर विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहता है ये तो परमात्म तत्व विज्ञान पर्याप्त कामा और इसका विपरीत जो परमात्म तत्व विज्ञान से पर्याप्त काम वाला है अर्थात आत्म काम परिसमुदाप्ता काम वह आत्म काम ही होने के नाते समस्त प्रकार के जो जो काम है सब उसे प्राप्त ही है जिसका जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा यश तस्य पर्याप्त काम से पुरुष से तारस पर्याप्त काम पुरुष के प्रति जो की कैसा होगा वो कृतात्मानो अविद्या लक्षणात् अपरूपात अपनी स्विन रूपेण परेणा रूपेण कृत आत्मा अविद्या कृदात्मस्तु यही वो अविद्या रूपा जो अपर रूपा विद्या उससे हट करके वो स्वयं परिण रूपेण अपने जो पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है उसके द्वारा चरितार्थ चैतन्य वाला चरितार्थ जीव भाव वाला वो हो जाता है तो वो भी विद्या विद्या के द्वारा जिस व्यक्ति का स्वरूप ऐसा हो जाए तस्य कृतात्मा उस व्यक्ति को कृतात्मा वह व्यक्ति का यही तिष्ठती शरीर है वही सर्वे सर्वे मने धर्माधर्म प्रधर्म और अधर्म पुण्य और पाप आदि प्रवृत्ति के कारण ही भूता प्रविलीयंती विलय उपयांति दश्यंती विलय को प्राप्त करता अर्थात नाश को प्राप्त क्या काम तजन्म हित विनाशात न जायंती प्राय सारी कामनाएं नष्ट हो जाते हैं कि कामनाओं की उत्पत्ति का जो कारण था क्या है अविद्या वही नष्ट हो गई अतएव कामनाएं उत्पन्न नहीं होते हैं ये सब था हम्म। हम्म। तत्व ज्ञान का अनुभव आ जाना चाहिए जब अनुभव नहीं होता तब तो विद्या नाश नहीं होता अप्रोक्षानुभूतियां जब तक अपरोक्षानुभूति नहीं होगी तब तक अविद्या नाश नहीं केवल परोक्ष ज्ञान से अविद्या शिथिल होता है नाश नहीं अविद्या इतनी शिथिल हो जाती है कि आपको मेरा वैराग्य बड़ा रहता विवेक वैराग्य ठीक रहता परोक्ष ज्ञान जब आपने जान लिया मान लिया भाई जगत तो मिथ्या है इसके चक्कर में मुझे भागना नहीं है ये परोक्ष ज्ञान पक्का है आप लोग केवल सुन के जाते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाता है यदि निष्ठा हो जाए परोक्ष ब्रह्म विद्या में भी तो फिर वैराग्य पक्का रहेगा स्वाभाविक है तो प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता इसलिए जितने ये प्रवृत्ति परायण लोग हैं भले वो वेदांत जितना प्रवचन दे रहे हैं इन लोगों को परोक्ष ज्ञान भी दृढ़ नहीं है तो परोक्ष ज्ञान पक्का हो जाए तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती आदमी का उसको हर चीज के प्रति वैराग्य होगा अप्रोक्षानुभूति के बाद यदि प्रवृत्ति दिखाई देता है तो वो तो अपना प्रार्थ अनुसरण होगा लेकिन तब तक जो परोक्ष ज्ञान अनुभव वाला जो व्यक्ति होता है अप्रोक्षानुभूति पर्यंत तो निवृत्ति प्राणी रहता है और उस निवृत्ति परायण का संस्कार इतना पक्का बन जाता है कि अप्रोक्षानुभूति के बाद भी वह प्रवृत्ति में रस नहीं रखता इसलिए मान के चलना पड़ता है अप्रोक्षानुभूति हुए लोग कोई कोई होते हैं इसे भगवान ने कहा कश्चित व्यक्ति माँ तत्व अप्रोक्षानुभूति वाला मिलना मुश्किल है इस संसार है ढूंढना पड़ेगा इसलिए गणेश आनंद जी एक बार कहे थे ज्ञान जी में सच्चाई स्वीकार किया इसलिए हमें उनके प्रति बड़ा आदर है कि भाई कोई तो है मानने वाला वो कहा स्पष्ट हम लोग बड़े लिखते हैं श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर मुख मुख करके मैं समझता हूँ यदि धरती पर वास्तव में केवल एक ब्रह्म श्रुत्र ब्रह्मष्ट पर प्रोक्षानुभूति वाला हो तो धरती धन्य है